तक से आदत नहीं होती और जब तक मनुष्य उस सत्य के नहीं जाता तब तक उससे बेचारे को बहुत बहुत करना पड़ता है और उसके बाद भी उसमें शांति और तसली नहीं होती जैसे भी आई चैतन्य माँ प्रभु की बात गौराम की गौरांग से बात आई है जैसे तैसे आदमी नहीं थे न्याय शास्त्र पढ़े हुए थे वैसे परेशान के शास्त्र में विद्वान थे काशी में बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त कर लिया था फिर भी जीवन में देखा कि दान है सफलता है रावण है पत्नी है फिर कुछ खालीपन महसूस होता था छोड़ दी विद्वता छोड़ दिया शास्त्रार्थ ये हड़ताल आत्मे और सड़कों पर निकल पड़े हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करते करते अपना अभिमान अपनी विद्वता अपना पद प्रतिष्ठा भूल जाते थे जब आदमी अपना पद प्रतिष्ठा और अहंकार भूल जाता है तब वो सुषुप्त ईश्वरी शक्ति उसके रुए रुए द्वारा नाचने लगती थी शेक्सपियर बड़ा विद्वान था उसका नकारात्मक जीवन था विदेशी लोग प्राय उसको जानते भारत के लोग भी जानते हैं को उसने जब अपनी शब्दों का अनुवाद पढ़ा शोपनहार तो अपनी उपनिषदें से पढ़ लेकर सड़कों पर नाचा हुआ आदमी शेक्सपियर कहते हैं जिस आदमी के जीवन में कीर्तन नहीं है जिस आदमी के जीवन में ईश्वरीय नृत्य नहीं है जिसके जीवन में ईश्वर चिंतन करते हुए मालिक के गीत गाते हुए हृदय पिघलता नहीं है वो आदमी पापी होना चाहिए छली होना चाहिए दंभी होना चाहिए अहंकारी होना चाहिए पहले में कहीं भी थोड़ी बहुत सरलता होगी तो ईश्वर के लिए उसका भाव पैदा हो जाएगा तुमने देखा होगा कि वो काका आप बगीचे में बैठे जाके थोड़ा प्रेम रस नहीं है उसको बहुत सारे रस लेने पड़ते हैं जिसके जीवन में भीतर का प्रेमा रस प्रकट नहीं होता है उसको बहुत सारे रस लेने पड़ते हैं और बहुत सारे रस पर भी उसके जीवन की पूर्णता नहीं होती बहुत सारे रस मिल भी गए फिर तो भी जीवन की पूर्णता नहीं होती है भीतर का प्रेम रस मिल गया और फिर और रस नहीं मिलते तो भी वो आदमी अपने आप में पूरा है पुरानी एक कहानी है बोध के जमाने की किसी गांव में छोटे से गांव में एक आदमी पेड़ के नीचे छोटी सी झुपड़ी में रहता था वो आदमी को तो सारा गांव परेशान था वो आदमी कमाता न था किसी को कुछ देता न था किसी से मिलता न था भूख लगती तो लोग उसे रोटी दे आते खा लेता मुंह में डालते तो चबा लेता और यदि किसी दिन कोई रोटी न डाल दे तो बोलता कि अंधे है मूर्ख है बेवकूफ है नादान है हम समझ है लोगों को डांट देता आंधी आए तूफान आए तो लोगों को उसकी सेवा करनी पड़ती थी वो अपने शरीर की कभी संभाल नहीं लेता था कोई सेवा न करे तो बड़बड़ाता था तो दूसरों को पता ही नहीं अपने लिए कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं अंधे हैं जन्म से अंधे हैं बाधार है लोग बड़े परेशान हो गए कि अजीब आदमी कभी आशीर्वाद भी नहीं देता कभी धन्यवाद भी नहीं देता साधु है कि गृहस्थी है हिंदू है कि मुसलमान है मठाधीश है कि जो पता है कोई परिचय तो नहीं पूछते हैं तो बताता भी नहीं कुछ तो जहाँ गांव होता है वहाँ सब किस्म के लोग होते हैं और पहले काल में तो दूसरों की गलतियां और दूसरों को नीचे दिखाने वाले लोग ज्यादा होते हैं दूसरों के गुण ढूंढने वाले लोग कम होते हैं अफवाह फैल गई कि आदमी को तो सुचित्र है इससे कोई लाभ नहीं गाँव को मुफ्त का खा रहा है आराम का खा रहा है कुछ करता ही नहीं दुर्भिक्ष आया लोगों ने देखा कि अपना रोजी रोटी भी मुश्किल है अब इसको क्या खिलाना गरीब भोले भाले लोग इसको खिला के आते तो इसका सिर भर अनाज नाश होता है इसको जिंदगी बाहर क्या हो गए कुछ लोग कहा के तुम किसी काम के नहीं हो जीते हो तो भी हमारे गांव के किसी काम के नहीं हो और एक दिन तुम तो हम चाहते हैं कि तुम्हें जीता जीत गाड़ दे तो आपको कोई हानि है आपको कुछ करना बाकी तो है नहीं तुम्हारे पास न पत्नी है न बच्चे हैं न कुछ करते हो न किसी को कुछ देते हो न कोई मेहनत तुम्हारे जीवन में देखी गई बस पड़े हो इतने महाआलसी होकर पड़े हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है और वैसे भी तो मरना है तो हम तुम्हें जीते गुजार के आ दो कुछ ऐसे चंद लोगों ने सुझाव रखा और मैं पता ही नहीं था कि आदमी हराजी हो जाएगा उसने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ लेकिन उठाकर तुम्हें ले जाना पड़ेगा बरगद तक मैं नहीं आऊंगा जैसे मुर्दे को उठा के पहुंचा देते तो ऐसे मुझे पहुंचा दो गाड़ दो तो कोई हरकत नहीं मैं सहमत हूँ वैसे घर जाना है लोगों ने तैयारी की चंदा लोग थे उनके लिए मजाक थी काई बाई घर आयो ठाकड़ी और आदमी को सुला दिया नहला दिया सुला दिया बस जैसे मुर्दे को सब कुछ करना पड़ता है मुर्दे को नहलाना पड़ता है धुलाना पड़ता है रस्सी बांधनी पड़ती है मुर्दा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता कोई विरोध नहीं करता बस वो तो ऐसा मुर्दे की नहीं कोई हिलावे तो हिले हिलावे तो सोए बांधा तो बांध लिया और राम बोलो भाई राम राम बोलो भाई राम खुदा हाथ करते करते गए अध रास्ते पहुंचे होंगे गांव में कोई अजनबी आदमी आया था उसने बात सुनी कि जिंदगी आदमी को देखो ठाकसी में ऐसा ले रहे आदमी को कोतो उसने कहा नीचे उतार उसको दर्शन करना चाहता हूँ आदमी राजी कैसे हो गया जीते जी इसी प्रकार मुर्दे जैसा राजी कैसे हो गया आरती तो आराम से रहता है चिल्लाता भी नहीं प्रतिक्रिया भी नहीं करता है बात क्या है जरा ये आदमी को देखना होगा कोई बाहर गांव से आया था कोई तालुके से आया था उस अजनबी आदमी ने निहारा देखा से खुली आदमी तो जिंदा है और जो बात सुनी थी कि जिंदे आदमी को गाने लिए जा रहे हैं तो सच्ची बात उसने कहा कि छोड़ो उसको क्यों गाड़ते हो लोगों ने कहा कि आम का खाता है का खाता है खिलाने को है नहीं हमारे पास और न खिलाएंगे तो ये भूखा रहे और हम लोग खाए हमें अच्छा भी नहीं लगता इसलिए इसको तो समाप्त कर ही देना है उस आदमी ने कहा कि देखो जी इस बेचारे को छोड़ दो तुम आपकी से कुछ दो पांच कदम दूर जाकर लोगों को कथा करके कहने लगे तो इसको छोड़ दो साल भर का अनाज का खर्च मैं दे देता हूँ तब अर्थी में सोया हुआ उस व्यक्ति ने कहा तो खबरदार रहना साल भर का अनाज तो वो दे देगा लेकिन पूछना सोया हुआ साफ किया हुआ पिसा हुआ होगा कि पिसाने की मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी जल्दी मत बन जाना तब अजनबी आदमी आया देखता है कि तुम अजीब आदमी हो इतना बोल भी सकते हो अनाज का शब्द भी समझ सकते हो इतनी तुम्हारे में समझ भी छुपी है तुम अर्थ पे उठाए नहीं जा रहे हो और बोलते नहीं प्रतिक्रिया नहीं करते हो साल भर का मैं अनाज देता हूँ अब अनाज साफ किया हुआ हो घुसा हुआ हो डला हुआ हो इतना भी तुम जानते हो तब उस मुर्दे वेशधारी फकीर ने कहा कोई सूफी फकीर था उसने कहा कि तुम्हारे को जरा समझने की शक्ति है तुम मेरी आंखों में देख सकते हो मुझे थोड़ा समझ सकते हो इसलिए बात बताता हूँ कि जिस शरीर को एक दिन जला देना है जिसको कबर में ना गाड़ देना है उसके लिए करने को मेरे पास कोई फुर्सत नहीं ये लोग मुझे आलसी बनाते हैं आलसी कहते हैं लेकिन मैं कीर्तन नृत्य जप तप करके उस राज को समझ चुका हूँ कि ईश्वर के सिवा खुदा के सिवा खुदा की बंदगी के सिवा खुदा की मस्ती के सिवा और कोई चीज संभालने जैसी है नहीं ये मूर्ख सुबह से शाम तक घर को संभालते मकान को संभालते संपत्ति को संभालते इज्जत और आदू को संभालते शरीर को संभालते लेकिन सब कबर में दफनाया जाएगा अब उनको पता ही नहीं मुझे तो दफना देते लेकिन वहां हम मिलेंगे तब पता चलेगा कि किसने संभाला कौन आलसी और कौन क्रियाशील है जो संभालने का वो मैं संभाल रहा हूँ शरीर को गाड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है शरीर के लिए समय देने को मेरे पास कोई समय नहीं है क्योंकि जिसको तो संभालना उसी को संभाल रहा हूँ और जो छोड़ना है मैं पहले से छोड़ चुका हूँ आदमी ने देखा भी होगा कोई सूखी फकीर दिखता है बड़े महान दिखते हो बोले महान दिखना छोटा दिखना बड़ा दिखना ये तुम्हारी भावना के अंदर है मुझे तो जब से गुरु की कृपा भी मिली गुरु की कृपा मिली तब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे को आलसी कह रहे हैं लेकिन इनको पता चले कि अपने घर के और अपने घर को संभालने के लिए इनने कभी एक दिन भी नहीं निकाला आलसी कौन है इनको पता चल जाए कि युगों से जन्मते आए हैं मरते आए हैं अपने घर की ओर एक कदम भी नहीं रखा आलसी तो खुद है अपने घर की ओर माना आत्मा की तरफ अपनी और तो कभी आए नहीं है और जो छोड़ जाना है उसको उसमें लगे हैं तो आलसी तो ये है और ये सब मिलकर मुझे आलसी कहते हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आलसी नहीं हूँ आलसी तो तुम हो कि जीवन भर व्यर्थ चीजों में समय गंवा रहे हो और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो तब वो जो भिखारी को तुच्छ समझता है कबर में पहुंचाने की तैयारी में थे उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा भी आदमी चरणों पर गिर पड़ा देखा कि तो कुछ छुपे हुए महान संत है जिसने उस भीतर के संगीत को जान लिया जिसने भीतर के रस को जान लिया उसको फिर बाहर का जगत निसार दिखता है किसी को जेल में डाल दो या किसी को एक कमरे में पूर दो तो परेशान हो जाएगा लेकिन जिसको भीतर का कमरा मिल गया है उस वो अपने आप कमरे में गुफा में बैठा रहेगा बाहर आने की उसे रुचि नहीं होगी तो दो दो घंटे रस आ गया ईश्वर का तो फिर और तीन घंटे चार घंटे छह घंटे बारह घंटे एक दिन दो दिन चार दिन ऐसे ऐसे भी ऋषि बैठे हैं ऐसे ऐसे भी मुनीश्वर बैठे हैं जो लोगों से मिलने की रुचि नहीं करते फिर भी लोग आ जाते हैं जरा मिल लेते हैं क्योंकि वे लोग समझते हैं कि लोगों से मिलने के बाद भी जो मिलेगा वो सब नश्वर होगा लोकेश्वर से मिलेगा मजे की बात है कि जो लोकेश्वर से मिलने मिल लेते हैं उनको लोग मिलने को भी आते हैं और उनकी आज्ञा भी पालते हैं उनके दर्शन करके लोग कृतार्थ भी होते हैं और जो लोकेश्वर से मिले बिना लोगों से मिलने की कोशिश करता है उनको लोग मिलते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कबीर जी कहते हैं एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए तो मनुष्य अपने घर की और जितना कम है उतना उसको बाहर की क्रिया बाहर का व्यवहार बाहर का सुख दुख ज्यादा चोट करेगा अगर मीठे फल खाएंगे और होगा मीठा फल तो उसको खट्टा समझ के भी लोग मुंह चढ़ा देंगे बंगलो श्री राम असांजो बंगलो पंहिंजो है अरे तुंहिंजो बंगलो पहनो वरी छाजो अथई कोई बोलता है हमारा झुपड़ा है कोई बोलता है हमारा बंगला है कोई बोलता है हमारा मकान है कोई बोलता है हमारा दुकान है कोई बोलता है हमारा ये है तुम्हारा बंगला नहीं है बंगला तो अपने आप का ही नहीं है पंहिंजे पाण जो कोने तो तुंहिंजे वाली कथा तीनों श्री राम वो अपने आप का ही मित्र नहीं है अपने आप का ही वो अपने आप को ही नहीं समझता ये मंगलो मंजुआ है दुकान मंजुआ है मोटर मुंहिंजी है गहने मेरे हैं अरे गहनों ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारा हूँ जब जब कहा तुम्हारी कल्पनाओं ने कहा ये फर्नीचर हमारा है ये बंगला हमारा है ये मकान हमारा है ये कार हमारी है कार ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हूं या तुम हमारे हो तो मनुष्य अपना बंगला मानता बंगले को खबर नहीं कि मैं बंगला हूं श्री राम झोपड़े को खबर नहीं मैं झोपड़ा हूं समझे था ना समझने वाला समझे ना बंगले से खबर करने में बंगलो है झोपड़े को खबर नहीं है मैं झोपड़ा हूं जब जब कहा कि मेरा झोपड़ा है मेरा बंगला है तो बंगला मेरा मानते हो झोपड़ा मेरा मानते हो लेकिन वो छुपा हुआ जो यार है उसको कभी तुमने कहा कि मेरा है परमात्मा मेरा है मैं परमात्मा का हूँ उसको कभी नहीं देखा जब जब देखा तब कब्रस्तान को देखा जो कब्र में मिल जाएगा मिट जाएगा गल जाएगा सड़ जाएगा उस मकान को बोलते हमारा है जो गहनों को छोड़ कर चला जाना है उस गहनों को बोलते हमारा है जिस शरीर को एक दिन कब्र में दफनाना है उसको बोलते हैं कि मैं हूँ और जो कभी नाश नहीं होता उस आत्मा को कभी देखने के लिए समय नहीं निकाला तो इन आलसी लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ मैं यदि जीते ही यदि कबर में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया और ये मर के भी कबर में गए तभी भी बेकार है और जी के भी गए तो बेकार है क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन बेकार में व्यतीत किया है जो प्रवचन उपदेश ये वो दे जाके कर करा के फिर डूबते जाते हैं विशेष डूबते जाते हैं डूबते समाज में आते हैं समाज से फिर डूबते हैं लूणावाड़ा इधर ऐसा एक फकीर था वो राजा का गुरु था लूणावाड़ा गोदरा के पास उन्नीस की करीब की बात होगी मैंने सुना उनका नाम कि वे एक ऐसे हैं तो पहले सम्राट के गुरु थे ब्रह्मसूत्र पर कथा करते थे वेदांत का सत्संग सुनाते थे एक बार अमेरिका जाते आए थे इंग्लिश भी जानते थे प्रतिदिन राजा का रथ आता है लुणावाड़ा का और रथ में ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ होकर राजा के घर को जाते महल में और वहाँ उनका सिंहासन बना रहता है उस सिंहासन पर बैठकर राजा को राजा के और दो चार साधकों को मित्रों को ब्रह्मसूत्र के उपनिषदों की सब कथा सुनाया करते थे अब राजा का गुरु होने के नाते भीड़ बढ़ती गई लोग बढ़ते गए लोग बढ़ते गए देखा कि समय बहुत जाता है अब क्या करो आश्रम वासियों को कहा कि मुझे अब सत्संग करने नहीं जाना है राजा को बोल देना राजा के रथ वालों को वापस कर देना लोगों ने कहा कि महाराज आप राजा के वहां जाते हैं इसलिए तो आश्रम भी पल रहा है इतने साधु भी पल रहे हैं इतना समाज का सेवा भी हो रहा है ये आप क्या करते हैं आप